है नवरात्र के दिनों में जय होते हैं उज्जय को अंकुर से है ना उसमें मनुष्य जो जीवन से पड़ता है बढ़ता है है उसमें और फल लगता है और और फिर जैसे सीखे हुए अन्न फिर दूसरा पौधा निकल जाता है इसी प्रकार फिर उससे दूसरा पौधा निकल जाता है जो हालत दुनिया में साफ में पौधे की है वही हालत मनुष्य की है जो भी वैसे पैदा होता और वैसे मरता है और पूरा आस्था सारे लोग है तो मौत से संजो है मौत ने अपने सुगंधे में कस रखा है सारी सुगंधी को मौत ने अपने संजो में सदा रखा है सारी सुगंधी को इसके लिए इस बात किसके लिए करते हो किस बात के लिए मतलब प्रार्थना से अधीन होते हो किस लिए लोगों का बुरा चाहते हो ना लिए सत्य का मार्ग छोड़ते हो किसके लिए अन्याय करते हो ये है ना अब उस के प्रति पहले तो को देखो बुखार न हो तेल न हो दर्द न हो तो घर के लोगों के लिए भोजन करना कठिन रोटी हो तो रोज तो, को रोज मसाला संभार और तेल के साथ भोजन करना मुश्किल हो होगा इस बात है ना मैं हम फंसे करते हैं दुनिया में फंसे करते हैं अपनी रुचि को बहुत बड़ा महत्व के हम जो हमारी रुचि में भूल थी संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमको सुख देती है हम उसमें अपना सुख डाल के चाय नीति नहीं होती उसमें हम अपने घर की चक्कर डाल के जैसे मिट्टी बनाते हैं वैसे संसार के भीतर जीते नहीं है उसमें हम अपनी वासना डाल के मिट्टी बनाते हैं उससे इसके बाद संसार की किसी दुष्ट में खुद की निकास नहीं है निकास हमारी आत्मा की डाली हुई है एक बात और कोई वस्तु जो है स्वयं आके हमको नहीं दबाती है हम उसको सिर पर उठा के बता देते स्वयं भी नहीं होते स्वयं प्रकाश नहीं होते हम हैं स्वयं भी हम हैं स्वयं प्रकाश और दूसरी वस्तुओं को अपने सिर पर लाद लेते हैं हम पकड़ते हैं पेड़ को और कहते हैं पेड़ ने हमको पकड़ लिया एक नदी में एक नदी में कुछ काला काला बाहर जा रहा है किनारे पर इसको हुई कि कम्बल कहा जा रहा है बड़ा नदी और जाकर उसको पकड़ा पकड़ा तो कम्बल नहीं था लेना जो किनारे पर मित्र था उसने कहा कि भाई तुम कहीं क्यों जा रहे हो अगर कम्बल नहीं आता है तो तुम उसको छोड़ दो उसने कहा मैंने कम्बल को नहीं पकड़ा है कम्बल ही मुझे पकड़े नहीं जा रहा है और दूसरी बात ये है कि संसार का कोई भी वस्तु को मुक्त नहीं है सत्य माने दृश्य जो है वो सच्चिदानंद है दृश्य आनंद नहीं है दृश्य स्वयं प्रकाश चेतन नहीं है और दृश्य सत्य नहीं है और हम आनंद स्वरूप हैं हम भूतन हैं हम स्वयं प्रकाश हैं और दूसरे अद्वितीय नहीं है क्योंकि दुख को सदृतीय बनाने वाला तो हम मौजूद है है ना मैं अद्वितीय है दुख अद्वितीय नहीं है तो जब करते हैं तो ये असल संसार की मृत्यु का जो विचार है ये संकट का मूल तत्व हुआ हो मृत्यु के पास जा करके ज्ञान को सीखना सोचे तो संसार में जगह जगह जगह जगह मैं खाई हुई है अब मृत्यु का मृत्यु के पास पहुँच गया कि नहीं अब उसके संसार में खान खान कर जब ने कह दिया कि जा मर तो देखने लगा अरे दुनिया में सब चीजें तो मर रही है देखो विषय जो है ये मुख्य और इंद्रियों में योग का मुख्य सामर्थ्य नहीं है और मन में मुख्य नहीं है और भोग का मुख्य भोग नहीं कर सकता चार बातों को तो संसार के भोग में सर्वत्र विषय में मुख्यता नहीं है बुरा हो जाता है जो भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है वही सड़ जाता है जो कपड़ा बहुत सुंदर होता है वो फट जाता है तो विषय में मुख्यता नहीं और इंद्रियों में भोग का नित्य सामर्थ्य नहीं है और मन में किसी भी विषय के प्रति युक्त रुचि नहीं है हाँ? और भोक्ता जो है वो युक्त भोग नहीं कर सकता सुदृष्टि आदि काल भोग नहीं कर सकता ये चार दोष से ग्रस्त होने के कारण संसार के विषय में जो राज है जो आपात रमणीय है अधिकार सिद्ध है वो तुरंत तो से अच्छा लगता है लेकिन विचार करके देखो तो इसमें कोई मजा नहीं आ रहा अभी नतीजे का तो बगीचा मेरे असल में नहीं है आग है द्वैत को भस्म करने वाला अमराजी जमराज के दरवाजे पर बैठा हमको तो जाते हुए पृथ्वी के द्वार पर बैठा हमको पूरी शरीर का भोग नहीं चाहिए हमको तो सूक्ष्म शरीर का भोग नहीं चाहिए स्वर्ग आदि कब आ गया बोला शरीर का भोग नहीं चाहिए हमको कारण शरीर का भोग नहीं चाहिए समाज नहीं चाहिए हमको समाज में समृद्धि समाज नहीं चाहिए तीन दिन का उपवास कर दिया हो तीन दिन का उपवास मानो जो विश्व संगत प्राप्त को जो अनुभव होता है वो हमको नहीं चाहिए तीन सूक्ष्म कारण शरीर में जो भोग होता है वो हमको नहीं चाहिए हम अपने से जुदा जान डालने के लिए तैयार हैं लेकिन अब पिता ने हमको मृत्यु को दे दिया है तो जिंदा पुरुष की तरह मैं व्यवहार कैसे करूँगा मृत्यु की प्रतीक्षा में तीन दिन बैठ गया हम तो समराज का जो परिवार है वो सम्राज को कहने लगा करो ये ब्राह्मण अग्नि तुम्हारे घर में आया है ये अग्नि है अग्नि हाँ, हाँ। आग है अतिथि आग है करवाने पर कोई आ जाए उनको उसको परमात्मा देते हैं ज्यादा उम्र में उसकी मृत्यु अभी दो बरस तो उसकी प्रतिज्ञा थी हमारे पास कोई भाग से आएगा तो हमें भारी भाग करना उसका दस लाख रुपया उसके ऊपर तो महात्मा के पास गया जो काफी चार काफी घटना बना गुजरात गुजरात का कहा तुमने कहा तुमने कुछ छुपा के रखा है कि नहीं और उसने कहा छुपा के रखा है कितना रखा मुझे मेरे काम कर दो अपने निरूप पैसा छुपा के मतलब वो महाराज डेढ़ लाख में छुपा के रखा था वो भी काम करो वो तो हिम्मत हो और जब डेढ़ लाख दान किया उसने तो किसी दूसरे आदमी ने उसको चार लाख दिया और चार लाख से आमदनी हुई उनकी आमदनी हुई फिर के तो लगे तो जीवन भर उसने सभी मांगने वाले को दान किया एक व्रत है न ग्रंथ अतिथि आया ब्राह्मण आया अग्नि आया घर में अरे भाई इसको कुछ आरोपी हो सबके काम शांति ही बन एक अग्नि की शांति यही है हर जरूरत प्रत्येक काम जैसे घर में आग लगे तो उसमें पानी डालते हैं ना उसी अतिथि अग्नि रूप हो करके आया है अब उसको जल पिलाओ मीठी पानी दे लो उसको पिलाओ नहीं तो याद है आप है ना हम किसी की सेवा करो तो सेवा न हो या किसी की होता होता है बोले आशा प्रतीक्षा संगता सुगता आशा और प्रतीक्षा आशा और प्रतीक्षा में क्या फर्क है चीज भूल नहीं लगती उसका पता नहीं सबको आशा लगाए बैठे रहते और जब पक्का होता है कि विनय भी सब प्रतीक्षा करते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आज उनकी प्रतीक्षा है बहुत आने वाले है ना चलो तो ठीक बता नहीं है खिलाएंगे तो नहीं आएंगे तो तुम्हारा कर रहे हैं खिलाएंगे तो और बिना आपने तो कोई खबर तो नहीं है अभी उसके पास खड़ा है ये विज्ञापन के लिए जो है ना को का यहाँ तो बताते हैं कि ब्राह्मण ज्ञानी ही इस धर्म का पालन करते हैं कि उनके यहाँ कोई आ जाए है ना धर्मराज जो है मृत्यु जो है वो तो तत्व है ना मृत्यु अगर तत्व बिना होते तो उनके लोगों को मारने का पाप लगता है मृत्यु का थोड़ा जो है बड़ा और फिर अपने अपने भाई भतीजे को छोड़ देते तो दूसरों को मारते पक्षपात करते तो मृत्यु में पक्षपात नहीं है है ना और मृत्यु जो है तो उसमें मैंने किसी को मारा ये अभिमान नहीं है और मृत्यु सबको मरा हुआ देखता जिंदा किसी को देखते ही कहीं देखता है इसलिए ये मृत्यु ही तत्व ज्ञान है मृत्यु तत्व ज्ञान और दरवाजे पर भी जब संग्रहित किया गया जो तो उसका संस्कार करता है और संस्कार न करने में अब कल जो खत्म हो ना क्या Thank you. तस्मैताम् शान्तम् कुर्वन्ति सरलवत्सहोदकम् आशा प्रदीप्ते संरतम् संवृताम् दूर्तादूर्तने सूत्रपतिम् सर्वान् दूतदुभ्रमित दूतस्यान्तमृतते यस्यात्मनम् वसन् ब्राह्मण गृहे பூக்கள் பிரதானமாய் பிரசமம் வரம் உள்ளன पिता बाप को सब कुछ करने के लिए और उनका हित करने के लिए यमराज से मृत्यु के देवता से दरवाजे पर पहुंच गए परंतु मृत्यु देवता यमराज उन दिनों अपने घर में थे तीन दिन दिन तक वे उनके दरवाजे पर बैठ गए जब तीन दिन के बाद युवराज बैठ करके खाए तब उनके परिवार के लोगों ने यमराज को कहा वैश्वानर प्रविशति अतिचर ब्राह्मणों गृहा ब्राह्मण अतिथि के रूप में जो अपने घर में आता है वो अशुद्ध नहीं है अग्नि है अग्नि नदी देता नाम ही अग्नि का तो घर गृहस्थ में जो लोग रहते हैं उनका ये कर्तव्य है कि उस आए हुए अग्नि देवता को अतिथि देवता को ब्राह्मण देवता को शांत करें तो कैसे शांत करें स्वयं के लिए साध्य अर्घ आचरणीय आदि जो सत्कार की प्रणाली है उससे उनका स्वागत सत्कार करें नहीं तो जो अग्नि देवता गृह आश्रम को भस्म करने वाले होते हैं आ जाए तो लौटाना नहीं जो टेलीफोन करके आते हैं या कार देके आते हैं या किसी लेके आते हैं वो तो अतिथि नहीं होते वो तो प्रतिथि होते हैं जो अपने आने की कुछ सूचना देंगे और शुद्ध अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हाँ वही चीज है ये बोला किसी जाते जाते किसी तक जो है ना यही देश बन गया है बोला और यही कहीं जाके तारीख बना है यही कहीं यही कहीं जाके देश बना रहे ये संस्कृत भाषा बहुत पुरानी है सब भाषाओं की ही माँ है तो अतिथि उसको कहते हैं जो बिना किसी पूर्व सूचना को भोजन के समय पर हमारे घर में आए तो उसको पुराणों में बताया है कि वो तो साक्षात ईश्वर आया है उसकी जात नहीं पूछनी चाहिए उसका संप्रदाय नहीं पूछना चाहिए उसका दीर्घ चरित्र क्या है ये भी नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ईश्वर की सृष्टि है वो इतनी बात को बिल्कुल स्पष्ट है इसलिए ईश्वर की सृष्टि में उत्पन्न होने के कारण उसको भोजन करने का मुख्य अधिकार है कोई भी जन्म लेने के बाद भोजन का अनधिकारी नहीं रह जाता पैदा हो गए और उससे कहें कि तुम भोजन के अधिकारी नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता तो भोजन का जो अधिकारी है तो जिसके साथ भोजन है उसका कर्तव्य है कि उसको भोजन दे रहे ये बात तो होगी तो जीवन की रक्षा के लिए और फिर ज्ञान की वृद्धि के लिए फिर सुख की वृद्धि के लिए हमारे उसके जीवन में सच्चिदा आनंद का विकास हो गए इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए जीवन की रक्षा ये सब की रक्षा है और किसी को रूप न बनाना उसकी सुख की रक्षा है और किसी को दुखी न करना ये उसके आनंद की रक्षा है तो जो मनुष्य का कर्तव्य है कि वो प्रत्येक व्यक्ति के आनंद की ज्ञान की और जीवन की रक्षा करने के लिए सचेष्ट रहे अब इसमें देखो एक बात ये है कि ये मेरा घर है और ये मेरा धन है और ये मेरा अन्न है और ये मेरा परिवार है ये जो मेरा मेरा मेरा बन गया है ना ये राग के कारण बना और राग अहंकार के कारण बना और अहंकार अज्ञान के कारण बना है तो ऐसे भी कह सकते हैं सत्य की कक्षा में अज्ञान पहुंच गया है और सुख की कक्षा में अहंकार पहुंच गया है और आनंद की कक्षा में राग पहुंच गया है इन तीनों में जहाँ इनको नहीं पहुँचना चाहिए वहाँ पहुँच के अपनी जगह भर दी है इसी के कारण जब कोई अनजान आदमी अपने सामने आता है तो हम उसको धड़क उठते हैं मेरे घर में कुछ कहा मेरे परिवार में कुछ कहा मेरे अंत में मेरे घर में कुछ कहा लेकिन ये जो तत्व ज्ञान का मार्ग है इस मार्ग पर जिज्ञासु चल रहा है वो तो लीला और पीड़ा एक कर देने का मार्ग उसमें तो संपूर्ण विश्व सृष्टि से एक हो जाना एक हो जाना है तो यदि केवल भोजन के लिए अतिथि के साथ कोई तादाद नहीं कर सकता तो संपूर्ण विश्व सृष्टि का त्याग करके और वो परमात्मा के साथ में क्या प्राप्त करेगा ये उसकी अयोग्यता की अयोग्यता की सूचना सूचना है वो ऐसा जिज्ञासु है जो चार रोटी का अतिथि के लिए त्याग नहीं कर सकता और नारायण और संपूर्ण विश्व का त्याग करके ब्रह्मदेव पर्यंत का त्याग करके और परमात्मा से एक होना चाहता है ये मेरा ये मेरा ये मेरा तो कम से कम जीवन में एक अवसर ऐसा होना चाहिए कि कोई अतिथि खुल जाए तो आ जाए तो उसको भोजन तो करा दे अपनी तकलीफ के अनुसार करा दे तो उसमें ये बोले भाई भोजन ना हो तो, तो भोजन ना हो तो पानी पिला दो पानी तो है बोले भाई मुंबई में तो जल का भी संकट हो जाता है, है? तो भाई जल खा ले उसको थोड़ी देर विश्राम कर लेगा तो बोले यहाँ बैठा मैं सबसे बड़ा क्या रहता है महाराज तो बोले अच्छा उसके बीच की आवाज को बोले तो अपनी वाणी की निशास को उसको दो चारों को मत तो इन चारों में से क्या स्थिति क्या कोई एक चीज भी तुम्हारे पास नहीं है ऐसी जो अब को दी जा सके प्रणामी उन्हीं ही उदकाम वास्तव की मृता श्वेताभियति पतान जीवे मोक्ष कदाचना पुरुष के घर में इन चार दाता की कमी कभी नहीं होती प्रणामी भूमि ही भूलकम दास चतुर्थी अन्न नहीं है तो जल जरूर होगा जल नहीं है तो चटाई जरूर होगी चटाई भी नहीं है तो धरती जरूर होगी और धरती भी अगर नहीं है से होगी ना जीव के विकास से होगी ना बढ़िया बोलो और कहे कि ये चारों नहीं है तो चलो भाई तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए फिर अभी थी ना कर दिया लता पत्राधिकन के लिए गर्भकरण कर रहे वहाँ है ना तो तुम्हारे लिए तकलीफ ना हो गया अगर तुमने अतिथि को ना कर दिया तो ईश्वर को ना कर दिया है ना और ईश्वर को ना कर दिया तो ईश्वर के रजिस्टर में तुम्हारे लिए ना लिख दिया हमारे राज्य में ये ढंग है बोला ये बात है तो अपना अज्ञान मिटाने के लिए अहंकार मिटाने के लिए ममता मिटाने के लिए एक अवसर ऐसा चाहिए मनुष्य के जीवन में अतिथि में देश दर्शन न करें ईश्वर भाव से उसको भोजन या जल है ना या आसन या भूखा बचा चारों में से एक उसको दे दे और अतिथिर व्यक्त घटना को बिहार प्रति वर्ग से तक नक्षंती आयु रुद्रा यशो वलम जिसके घर से अतिथि खाली हाथ लौट जाता है उसकी चार बातें बिगड़ते हैं एक तो आयु स्थिर होती है क्योंकि उसके दूसरे के जीवन में मदद मिलती है उसकी विद्या कम होती है क्योंकि उसने विद्या का उपयोग ममता के त्याग में किया तो उसका यश नष्ट होता है क्योंकि उसने कृपणता की और उसका बल नष्ट होता है क्योंकि वह दूसरे से मदद पाने का वो अधिकारी नहीं रहा चाहे जसो तो ये बात तो बहुत साधारण अतिथि थी और महाराज ब्रह्म विद्या में दो बात ब्रह्म तो ज्ञान की बात है एक तो मृत्यु की प्रतिष्ठा और मृत्यु का दर्शन सूक्ष्म की जो मृत्यु है यहाँ अमृतत्व का उदय है जहाँ मृत्यु का साक्षात्कार है जहाँ अपने अमरता का आविर्भाव है ये यम है ना यम मृत्यु है तो तीन दिन की की प्रतीक्षा तीन विशेष का प्रतिष्ठा ईश्वर और राष्ट्र ये राष्ट्र है राष्ट्र है मानव तीनों अज्ञान के तीन शरत तीन शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर प्रमेय प्रमाण और प्रमाता वेद ज्ञान और ज्ञाता कर्म रज और तत्व ब्रह्मा विष्णु महेश विष्णु सैयद प्राप्त विराट हिरण गर्भ और माया अधिष्ठाता तो मृत्यु मृत्यु मृत्यु की प्रतीक्षा करना माने अपने लिए कुछ नहीं चाहता एक की इच्छा नहीं रही विषय की इच्छा नहीं रही इंद्रियों की इच्छा नहीं रही चरण की इच्छा नहीं रही अपने कर्तृत्व से प्राप्त होने वाला और अपने भोतृत्व से भेजा जाने वाला संसार नहीं चाहिए क्या चाहिए मृत्यु मृत्यु मृत्यु वेदांत में संघर्ष करना पड़ता है महा प्रलय महा प्रलय महा प्रलय योग बाबू से पढ़ो सब मालूम पड़े है ना महाप्रलय इस महाप्रलय के चिंतन से ये दृश्य में जो आसक्ति है ये कट जाती है और फिर मृत्यु का दर्शन होना माने जिसकी मृत्यु होती है ये तुम समझ जाओगे स्थूल शरीर मरे सूक्ष्म शरीर मरे सारा शरीर मरे है ना साधु हम मरते नहीं बल्कि करो विचार तो ये विचार अपनी मृत्यु का जब तक दर्शन नहीं होगा मृत्यु का दर्शन माने हम मृत्यु से प्रकाश है मृत्यु का दृष्टा हो जाना मृत्यु का साक्षी हो जाना मृत्यु का अधिष्ठान हो जाना ये मृत्यु की जो गड़बड़ है ये मृत्यु की जो गड़बड़ है ये दृष्टि में है भ्रष्टा में तो है ही नहीं इसी योग योग के द्वारा मृत्यु के शोध में इसी मृत्यु के अपवाद में इसी मृत्यु के साथ अपना व्यतिरेक द्वारा विचार करने में मोक्ष का भी तत्व ज्ञान का भी ब्रह्म ज्ञान का भी निहित है इतनी विद्या के पुरुष जो है विद्या के पुरुष जो है वो तो नारायण मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है और मृत्यु उसके सामने आया अरे बोले घर वाले बोले कि ये मामूली नहीं है ये मृत्यु को मारने वाला आया है मृत्यु मृत्यु प्रणाम में हम ये आग आई है घर में ऐसी आग आई है घर में जो मौत को भी मार डाले युवराज जी आहर उदकम आहर जल ले आओ जल आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है तो जल डाला जाता है तो जल ले आओ जल ले आओ माने तो पाँव दो इसके हाथ साथ तो के माने पाँव सुधाना हो पहले लोग नहीं पाँव चलते थे इसमें उनके जूते को खोते हैं वो तो खड़ाव पहन ले उस पर कुछ पर भी पाँव धोने की जरूरत रहती थी अब महाराज शाम के आवरण में गाय जो है उसे तो चला गया शाम के पर्दे ही भले ही गाय के काम का ही क्यों न हो उसका तो तो वहाँ घट गया अब उसकी असर घोषित कर गई तो पहले ही पहले खाते बोला कि नहीं होगा एक दिन एक दिन किसी के घर गए तो चालीस किसको गए तो मैंने जूता निकाल दिया बाहर कमरे में तुम्हें तो आदत है कि किसी कमरे में जूता जूता निकाल तो गुरु महाराज कहने आओ पहने तो बात क्यों तो बड़े तो जूता पहन निकलने की हमारी आदत नहीं बोले हम लोग बाहर से आते हैं ना तो जूता पहने ही तो इस पर आते हैं महाराज तो बाहर का सीट लगा रहता है सड़क का है ना भूख लगा रहता है गंदगी लगी रहती है बिल्कुल में कोई तो पहले पहले हम चले जाते हैं है ना तो आप भी पहले लाओ अपना काम उसको चाय पर बड़ा भारी थाली में हुआ था करोड़ रुपए की सजावट कमरे में नारायण गाड़ी में डूबा हुआ बोले नहीं इसके नंगे पाँव से दुकान में चला तो ये स्थिति है चल रहा है शांति करो अपने देखो औरों की तो स्वादात जिज्ञासु आया है जिज्ञासु का भी स्वागत सत्कार कर सकते थे क्योंकि जमराज जो है ना एक परिवारी है एक बात आपको और बता देते जो घर गृहस्थ हो गए हैं घर गृहस्थी वाला और परिवार वाला हो गए वो तो अतिथि का स्वागत सत्कार करेगा और जो बुरा होगा अवधूत होगा तो वो स्वागत सत्कार नहीं करेगा ये सबका काम जरा अलग अलग होता है एक विद्यार्थी जमराज के पास जाए और दूसरा विद्यार्थी अवधूत दत्तात्रेय के पास जाए या जल भरत के पास जाए या रुद्रदेव के पास जाए या सुखदेव के पास जाए तो दोनों के व्यवहार में फर्क होगा क्योंकि अवधूत का व्यवहार इतना शिष्टाचार दूसरा है तो उसको हो ये कहने की जब भाग लिया ये भगत राज बता तो और क्या भगत राज को क्या लेना है जो प्लेट को तो पैसे का कुछ तकवत लेना है क्या चाहे तुम तो भगत भगत बोलते हो है ना है ना कार्य आर्य आगत गत सत्ता पधारिये सभी सूर्य जाना होगा तो वहीं चले जाएंगे तो जाने जाएंगे निश्चित जब आपको नहीं रही आपका खूब स्वागत सत्कार करेंगे न आगवानी करे और न पीछे जाकर पहुँचावे आगस्त गस्त पीछे भी स्वागतम पूर्णोदा सम्माननम से मत हुआ शरीर का स्वागत सत्कार करना और आत्मा का हमारी तुम्हारी लेख है उसमें स्वागत सत्कार का प्रश्न ही नहीं है एक मोक्ष परायण ये मोक्ष परायण होने का शिष्टाचार अलग है है तो शिष्टाचार जो है वो देश के भेद से और जाति के भेद से संप्रदाय के भेद से धर्म के भेद से आश्रम के भेद से शक्ति के भेद से विचार होगा तो दूसरा शिष्टाचार और जवान हो गए तो दूसरा शिष्टाचार जवान हो तो खड़ा होना चाहिए और विचार हो तो घर भेजे रहना चाहिए बोला और रोटी हो तो लेते रहना चाहिए शक्ति बल निर्बल पात्र पात्र और स्थान है ना ये सब देश के ये सब देश के सब ये शिष्टाचार के कार्य होते हैं एक नियम सब पर लागू नहीं होता अब कहते हैं कि ये जो शिष्टाचार है ये नित्य कर्म के समान है क्योंकि यदि इस शिष्टाचार का कोई पालन न करे उल्लंघन करे तो उसको दोष लगता है क्या दोष लगता है तो पुरुष से अल्पमेधत ब्राह्मण जिस कम बुद्धि अल्प मेधा वो बुद्धि नहीं है अल्प है एक नासमझ होता है एक दुर्बुद्धि होता है और एक अबुद्धि होता है अबुद्धि माने बुद्धि नहीं है इसलिए कोई गलती हो जाए और एक बुद्धि हो जाए तो जान बुझ के दूसरे को बुद्ध छुटकाने की कोशिश करता है तो उसको कहते हैं जो जान बुझ के स्वीकार करे और अबुद्धि वो है जिसकी समझ नहीं में आए तो उल्टी समझ होना ये दूसरी बात है और समझ न होना ये दूसरी चीज है पूरी समझ अल्प कहा समझ थोड़ी है उसके घर में कोई अतिथि आया और अनक्षण बसती बिना खाए हुए घर में रह गए उन्हें तो उस अतिथि सत्कार न करने से उस घर विकट वाले की भी बड़ी हानि होती है अब फिर जब से भगना को विराट पर निर्भर हमारे एक टाइम से बदलावा वो आ रहे थे मिथिला पुरी से जनकपुर से आ रहे जनकपुर से आए फिर अयोध्या आए अयोध्या से लखनऊ से आए तो लखनऊ में कोई सज्जन उनको मिल गए उन्होंने कहा कि कानपुर में सारा एक बड़ा मित्र है उसके घर जाना जरूर तो वो कानपुर के आगे में भोज की व्यवस्था है वो सब तुम्हारी कर देगा अब वो मजा उसकी बातें देगी अब वो जो तो घर वाला गाली देने लगा हूँ तो ये देखो ये तो हमारे शस्त्र बनते हैं और सूर्य निजाम का पहचान और कुछ को भेज ली और हमारे घर में आदमी के लिए और हमको कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते हमारे बैठने के लिए खुद गिरफ्तार किया खुद गिरफ्तार किया तो साइन जो थे वो वहाँ से निकले और उनके घर के बाहर एक चबूतरा था उसके आगे बढ़ते गए बैठे आठ घंटे सत्संग की बात करते रहे औरों से उसके साथ और भी सेवक थे तो कितने वर्ष बाद बोले उस पड़ोसों की जाओ उनके घर से तो एक गिलास पानी ले आओ तो उस देवत कहा कि महाराज तो तिरस्कार किया शादी की जब उसके घर में गिलास पानी मांगने गए तो बोले कि जाके तुम ले आओ हमारी यात्रा मांगो एक गिलास पानी ले आओ तो तेरे महाराज एक गिलास पानी मांग के अपने गिलास में उनके घर से गिलास पानी मांग के ले आए तो पानी अच्छा, में उसको चीजों को चले तो श्रोतों ने पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया बोले तो हम सुना किया कि धर्म शास्त्र के अनुसार हम उनके घर में अतिथि के रूप में आए थे उन्होंने खिलाया नहीं रखा नहीं उनकी बाणी नहीं बोली और हम ऐसे ही जब उनके घर से लौट जाएंगे तो उनका अनिष्ट हो जाने की शंका है जो ठीक जो होता है उसका अनादर करने से अनिष्ट होता है ना जो अतीत जो होता है उसकी पूजा करने से भी अनिष्ट होता है की पूजा का परित्याग कर देने से अनिष्ट होता है तो अतिथि जो है वो ठीक जो है उसकी उसका आदर कम से कम जानी से तो उसका आदर शुरू करना चाहिए और ये तीन दिन बिना खाए पी रहा महाराज तो क्या क्या हाथ होती है ये बात उस मंत्र में बताई गई उसकी आशा नष्ट हो जाती है यदि उसके मन में आशा हो आगे हमारे जीवन में ऐसा हो ऐसा हो शायद ऐसा हो और जो प्रतिष्ठा रहती है तो मिल जाते आशा तो ये है कि अभी मालूम नहीं है कि होगा कि नहीं होगा पर आशा की उदय में विद्यार्थी के लिए आशा बड़ी दुखद है तो आत्मता विद्या की जो चारों ओर से छूटे हैं उसका नाम आशा आशा किसको कहते हैं हाँ। ये कहते हैं जिसके हृदय में आशा रहती है तेषान जाति तेषान दातायते लोक और ये आशाया दाता ये दाता सर्वलोक ये जो आशा के दास है ये आशाया दाता ये आशा के दास है ये दाता सर्वलोक ये सारी दुनिया के दास है दुनिया के गुलाम है और आशा जीता दासी और आशा स्वयं जिसकी बाकी है तो श्रीकाम चाहता है तो धोखा सारी दुनिया उसका गुलाम बन जाती है तो आशा तो अच्छी चीज नहीं है लेकिन संसारी लोग तो आशा रखते हैं तो बोले भाई यदि की सेवा नहीं करोगे तो जो तुम आशा रखते हो अपने जीवन में वो टूट जाएगी पूरी नहीं होगी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं तो एक ने हमको कहा है भेजे को कि अमुक चीज तुमको देंगे हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब दे कब दे वादा कर रखा है बोले तुम्हारी प्रतीक्षा पूरी नहीं होगी क्यों तो नहीं होगी तो तुमने एक अतिथि जिनको तो तुम्हारे घर में आशा लेके आया था एक अतिथि भी तो तुम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि हमको एक गिलास पानी मिलेगा या गदानी सत्कार मिलेगा उसकी आशा और प्रतीक्षा तुमने छोड़ दी तो आज तुम्हारी आशा कहाँ से पूरी हो और प्रतीक्षा कहाँ से पूरी हो दादा जो फल मिलता मिलने वाला होता है वो टूट जाता है उसको बीच की आवाज भी कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि जो दूसरे को बीच की आवाज नहीं देगा उसको बीच की आवाज कहाँ से मिलेगी तुम सबको विकास दो तो तुमको भी विकास मिलेगी असल अच्छा, में ये सृष्टि जो है ये तो दो नहीं है जैसे पहाड़ में आदमी दूर से भोज के गाली दे तो किससे काम में पड़ेगी बोलने वाले को भी तो काम में पड़ेगी ना वो इसे फसाफस भरे हुए परम ब्रह्म परमात्मा में अगर किसी को तुम सुख देने की कोशिश करो गाली देने की कोशिश करो निंदा करने की कोशिश करो तो वो लौट करके वो लौट करके तुम्हारे पास आएगी हाँ, तुम्हारे काम में पड़ेगी वासा प्रतिष्ठे संगतम सुमृता प्रतिष्ठा पूर्ते और इसके माने यज्ञ करो तो उसका भी फल नहीं मिलेगा क्योंकि जो यज्ञ है वो किया किस जाता है यज्ञ में तो दो ही बात होती है एक आधार और एक प्रभात देखो जो दूध पढ़ने वाले ब्राह्मण है उसको कुछ मिले जो पहरा देने वाले हैं उसको कुछ मिले कुछ पैदा करने वाले हैं उनको कुछ मिले जो लकड़ी लाने वाले हैं उनको कुछ मिले मन यज्ञ जो है वो तो वितरण करने की एक प्राचीन प्रणाली है और तुमने अतिथि को पानी तक तो पिलाया नहीं और यज्ञ करने जा रहे हो अग्नि में तो होम कर रहे हो और जो चक्राग्नि लेकर के तुम्हारे पास आया था किसी के दूध में बैठ के चक्राग्नि प्रत्यक्ष तुम्हारे घर आई थी की हमने होम करो तो उस अग्नि का तो कर दिया तिरस्कार और बाहर की अग्नि में होम करने जा रहे हो तो यज्ञ कैसे सफल होगा उनसे माने बगीचा लगाना तालाब बनवाना धुआं बनवाना सड़क अच्छी बनवाना लाइन लगवाना स्कूल बनवाना अस्पताल बनवाना जिससे लोगों की भलाई हो है ना तो बोले भाई ये काहे को तो बनवाते हो तो लोगों की भलाई के लिए बोले तुम्हारे घर में जो हैं उसको जरा तो रोटी क्यों नहीं देगी इतना बड़ा लाख रुपया खर्च करके अस्पताल को तो बनवाते हो और उस आदमी को तुमने भूखा रख दिया क्या का रख दिया और उसके बाद अंग्रेजी तिरस्कार कर दी उसको ठग लिया लूट लिया है ना केवल तिरस्कार की बात नहीं है उसको ठग लिया लूट लिया उसको सौ रुपया ठगा और उसमें से सौ रुपए का एक रुपए का तुम आप कीर्तन करवा रहे हो और रिपोर्टल खोल रहे हो और तुम समझते हो कि हम परमात्मा के शिरोमणि है अपने अभिमान की रक्षा करना चाहते हो मनुष्य का तिरस्कार करके अपने हाँ, पुरस्कार किया जाता है बोला क्योंकि उस मनुष्य में भी अपनी आत्मा है पुत्र वशिष्ठ सर्वान अपने पुत्र का भी और अपने पशु हाथी घोड़े पशुओं में अब पहले पशु का शब्दार तो हाथी घोड़ा केवल होता था गाय बैल हाथी घोड़ा बकरी भेड़ ये अब पशु में मोटर का भी ग्रह है बोला तो मोटर स्कूटर रेलगाड़ी हवाई जहाज सब क्योंकि वाहन का काम पहले पशु करते थे ना तो पशु से जो वाहन का काम होता है अब जो हल जो पशु हल चलता है ना पहले बैल का हल चलता था तो पशु शब्द से उस हल की हानि होती है अब तो पशु शब्द से क्या चलता है वही जो हाँ I don't ये शतपति प्रतिशत के अर्थ में आ गए बोले एकाध प्रेमी से अगर आए हुए अतिथि का मनुष्य सत्कार नहीं करे तो ये सब उसके बाधित हो जाते हैं आज तो धर्मराज महाराज ब्रह्म विद्या के आधार परंतु गृहस्थ तो है ये मृत्यु असल में ब्रह्म विद्या की आचार चित्र रात्रि जगवाती प्रेम रात्रि जगवाती प्रेम अनंत ब्राह्मण अभिषेक नमस्या नमस्ते ब्राह्मण रघुवंशी जगराज ने कहा कि हे ब्राह्मण अभी पूरे देवता इस को जो आगे गिरी करने वाला है वो अपने सूर्य ग्रह का देव जाएगा सूर्य का असल दूसरे की लय हो जाती है मन की लय हो जाती है और अज्ञान की भी लय हो जाती है लोगों को ये आप सब हमारे आत्मा हमारे नहीं है तो ये बात बच्चे को मालूम है इसलिए लोगों क्या आप और नमस्ते नमस्ते मानो नमस्कार पाल सुना किसी का या हाथ बोलना या पेड़ दिखाना लेकिन इंडिया पर बचे ये मेरा विमान का भी व्यक्ति की एक प्रक्रिया है नमस्कार मनस्क्रिया मनस्या नमस्कार करना ये अभिमान के छोड़ने की एक जो नमस्कार करने वाला होगा वो प्रति व्यक्तित्व के अहम को भी रखने वाला है देखा सत्तर चालीस के आसपास की बात है तो उनको घर वृंदावन में सत्संग हुआ था पूज्य बाबा महाराज जी को कथा कर रहा था एक सौ आदमी को कितने गीत में एक को लेकर के मिल जाए यहाँ से प्राप्त तो उनको में पहुँचाने के लिए हमको दुनिया में पहुँचाने के लिए पाँच रुपए दे रहे हैं मुख्य का कहा है तो हमारी नजर ईश्वर करके हर कोई पाँच रुपये करना ईश्वर को देते हैं पद है तो हमारी नजर से अपने अपने बनाए अपने ईश्वर बनाए का सोचा है जो आपके कर्म का फल है एक हजार है अगर किस धर्म का फल है अगर हमारे पूर्व कर्म का कोई फल है तो उससे हमारे बैराग आना चाहिए उससे हमारे त्याग आना चाहिए है कर्म का फल त्याग होता है पूर्व कर्म का फल बैराग में होता है पूर्व कर्म का फल उत्साह का होती है पूर्व कर्म का फल पवित्रता होती है अगर तीन दिन नसीबा को भोजन दिया होता तो भगवान नहीं मिलता है ना और तीन दिन नसीबा को भोजन नहीं दिया तो उसको जीवन को और तो अगर कारण भी उसको भोजन करनी पड़ेगा उसका प्रारंभ में उसको भोजन करने से होगा लेकिन प्रारंभ में भोजन करने से होगा ये बात और हाँ, बिना अब आप कितने दिन के रहते तरह से रसगुल्ला खा रहे हैं हमारे अपने हमारे देश में खेल रहे हैं ये तो देखो हम किसका भेद कर रहे हैं ना इसी का नाम भूल रहे समय जिसके लिए देखते हैं हमारे अमुक मर गए और अमुक जीते गए और पैसा चले गए है ना और हम जितनी हो रहे हैं इस समय चिंतन कर रहे हैं चिंतन भी भेद का चिंतन है और इसका चिंतन भी भेद का ही चिंतन है भी क्या तुम अपने जीवन में ऐसा बता सकते हो जिसमें संसार के संबंध हो सुख देव का चिंतन और दुख देव का चिंतन न हो ऐसा निकाल सकते हो ये कृष्ण बजा दे तो मेरा बना हो केवल कृष्ण देव का जिससे तुम किसी का आपकी खुद की सुख देने वाली या दुख देने वाली वस्तु का निवारण लाओ मृत्यु देवता मृत्यु के साक्षी हो और मृत्यु का दर्शन हो रहा है मृत्यु का दर्शन हो रहा है और ये मृत्यु करने का ये तुम्हारी निर्दिशा एक खुशी ये मेरे मृत्यु निर्दिशा एक खुशी मैंने तुमसे ब्रह्म की हम लेकर नमस्ते ब्राह्मण बार बार ब्राह्मण बोलता हैं नमस्ते नमस्कार नमस्कार किया और नमस्ते अस्तु करकर के बाणी को नमस्कार किया है और नमस्ते ने अस्तु कहकर आशीर्वाद मांगा युवराज ने ये रात्रि क्या कहते हैं इसलिए तो कहते हैं कि रात्रि में जैसे अंधकार से संसार हाथ पर बन जाता है ना मैं दिखता हूँ संसार में नहीं दिखते शक्ति देते और परमात्मा को देते ये रात्रि में है ऐसा अधिक प्रसन्न को कुछ तो सूचना విశాఖ మన జీవితం యొక్క ఆజ్ఞా సాగు मेरे भय होता है और विवेक वैराग्य संपन्न होता है इसमें शरीर के जो भूत है उनका त्याग करके रह सकता है मृत्यु के भी दृष्टि कृष्ण के रूप में रहता है मृत्यु जिसका कृष्ण है जिससे सोने तत्व ज्ञान का आविर्भाव हो रहा है और मृत्यु भी इसकी पूजा करता है सदा से बेकार है सारा मृत्यु का शब्द उनको रखा माने अद्वितीय है दोहराना ही पुस्तक के सबसे अच्छा है इस प्रसंग से उठा और क्या प्रश्न उठाया स्वतंत्र नहीं है गीता स्वतंत्र है यमराज एक अतिरिक्त सत्य रूप किसे जानता है सत्य में व्यक्ति रूप से बताता है सत्य में है उसको तो खड़ा अपने घरे के रूप में बता में के रूप में जाता है उसको तत्वज्ञान देना होगा हो गया अपनी बात कर जब अपने व्यक्ति के रूप में बड़ा छोटा बड़ा पिता करीब बनेगा अनाविष्कार भाव हटाकार का आरोप नहीं और भगवान का आरोप नहीं उसकी मुक्ति के लिए जान जाए कि सत्य जान गया मैंने अपने सत्य को जान लिया और उसमें Thank you. दूसरा आदमी को मनुष्य सामने में ईश्वर का दर्शन नहीं देगा ईश्वर का तुम्हारा का नागरिक हर तलाश करके जो कर्तव्य होगा उसे खरीदेगा इसी को बोलते हैं कारक को एक कृषि में एक मनुष्य में इतना फर्क है कि वो समझ में इतना फर्क है अपने को तो छोटे दायरे में हिंदू मानते हैं और बड़े दायरे में कम्युनिस्ट मानते हैं हाँ। अपने चैतन्य को राज्य से मानते हैं हिंदू मानते हैं और गरीब में जोड़ देते हैं तो हमारा नाम ब्रह्म है नहीं होना है ये जमराज कभी कभी कर्तव्य होता है सब जमराज कर्तव्य जारी नहीं करते कोई भी नहीं जमराज मेरे पिता चलाओ उसको बिल्कुल सरकार का विचार होता प्रतिमा हिंसा और क्रोध और दवा हमारा भक्त है उनके उल्ट संकल्पः सुमनायः यात् विजयमन्त्रः गौतमो स्वकृत्यो स्वकृत्यमादिरत्नादिशेष muito desculpa aqui, mas foi comprar um o mesmo. Mas não consegui, mas já consegui ter sido Sobre o que não há sobre a minha. Sobre o que eu vou fazer. और अपने गुरु जी के लिए पांच रुपया निकाल कर रख लेते थे कि जब मैं मर जाऊँ तो उनको दे कल्पना करके उसको दुनिया के समय में बहुत लड़ाई करता लेकिन मरने के बाद उसको क्या हालत होगी इतना मेरे था अपने करने की ओर से देखते नहीं करना चाहता है छोड़ना चाहता है ये आदमी है हर जाने बात किस हालत में होगा उसके कई हजार उसके लिए हमारे बैठे के बाद हमारे बेटी का विवाह होगा शराब उसके साथ विवाह होगा करेंगे और दोनों विचार उसके साथ होगा हमारा हमारे साथियों का तो ऐसा संसार में जो संस्कृत को चर्चा बहुत चर्चा है आगे हमको उससे हमारा बहुत महत्व बढ़ेगा हमको शुभ जस मिलेगा हमारी बहुत डिजिटल करेगी और हमारा जीवन हमारी आगे बड़ी लंबी हो जाएगी इसे जो कम माने सम्यक समय की कल्पना जो चित्त में है उससे मनुष्य दुनिया की इसके बारे में होता है कारण क्या है कारण नहीं होता होगा तो कभी माँ बाप क्या देते हैं ऐसा उसका दिमाग होता जाता है जिसको ठीक करिए संकल्प قانون उनकी स्थिति का हस्ताक्षरण उनकी जरूरत दोनों कानून समझता है तो मन में भाव की दृष्टि आती है अनुभव की दृष्टि आती है तो दोनों आवाज समारोह में प्राण खाली थोड़ी देर के लिए संकल्प द्वारा रास्ते पर लेने के लिए नहीं होता थोड़ा ठंडा कर डाला है थोड़ा है हम गंगा को कुछ भी करना नहीं चाहते लेकिन आपके ये लोग मत दबा मन को साफ कर देते हैं या आसन को बैठा के मन को साफ कर देते हैं शास्त्र पुरानी रोशनी है आपको आप प्रकटे हैं दुर्लभ है ना वो दुर्लभ कर जाता है मन का पीछा है जो सामने आता है उसकी आया उसकी पहचान करेगी आया उसकी पहचान करेगी आया उसकी पहचान करेगी ऐसी ऐसे विश्वास नहीं करते जहाँ भी ये समझते हैं कि शीशे में रंग हो गया मुझे साई देवी ने सारा जी का लाल रंग का हो गया और हरी सिंह साई देवी ने सारा हरे रंग का हो गया पूरा जो अंतकरण का प्रशासक चिंता उसमें का स्वयं करोड़ चले अपना ज्ञान संसार के ज्ञान के लिए अपन अंतकरण बोलते हैं ஒன்று लेकिन कुछ भी संबंध नहीं है इसलिए सुनना होने का अर्थ ये है सुमन होना सुन का काम सुमन सुमन माने कुछ सुमन माने विज्ञान सुमन माने देवता सुमन सुपर सुमन और जिनने कहा कि सुमन शब्द का देवता है सुमन शब्द का फूल है सुमन स्पर्श का अर्थ शुद्ध मन ये अंतकरण क्या है एक फूल है कमल है पद्म है इसको सुमना खुला हुआ रखो है ना आए तुम्हारे सामने उसको एक एक आनंद का एक क्षण दे दो एक चिंता को दे दो जिसको बिहारी जी ने जाता है कोई आपको प्रसाद का एक दाम दे देते हैं टाइम की आरती में जाओ टाइम काल की आरती में जाओ तो प्रसाद का एक कम छिलका मिलता है छिलका है ना वैसे तुम्हारे हृदय में भी कुछ तो लालची होते हैं ब्रह्म है कि नहीं परमात्मा है कि नहीं अगर तुम्हारा कोई दर्शन करने आता है इस मंदिर में कोई परमात्मा का दर्शन करने आता है तो उसको भी भाई प्रसाद हो तो आज का एक क्षण से भी हो trước Thế